लोग तुमसे पूछते हैं कि उनके लिए कौन सी चीज़ें हलाल हैं कह दो कि तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल की गई हैं और जिन शिकारी जानवरों को तुमने अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक सिखा सिखा कर शिकार के लिए सधा लिया हो वो जिस जानवर को शिकार करके तुम्हारे लिए रोक रखें उसमें से तुम खा सकते हो और उस पर अल्लाह का नाम लिया करो اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ جلد حساب لینے والا ہے